है उपवन में बन बन में है तू है मन में सबसे है न्यारा पिताजी पिताजी आप और माता जी का मतलब की जो दोबारा बात मिल सकती तुझे किसने कहा बेटा मुझे श्री ब्रह्मा जी ने ये कहा था कि तुम्हारे भाग में संतान की उत्पन्न नहीं दिखती यदि संतान चाहते हो तो नेत्रों की जोत नहीं रहेगी परंतु मैंने संतान के लिए नेत्रों की जोत को भेंट करना स्वीकार कर लिया इसलिए तेरे जन्म के दिन हम स्त्री पुरुष दोनों नेत्रहीन हो गए उजाला जिससे है मन में वो सर्वन शक्ल चोरी है नहीं हम हमको आंखों का जरूरी डोरी है नहीं पिताजी मुझे तो उसने बताया है कि तुम्हें संपूर्ण तीर्थ यात्रा काटाने से नेत्रों की जोत दोबारा मिल जाएगी मैं डोरी बनाकर तुम्हें और माता जी को तो जरूर तेरा उठाकर अपने कंधों पर तुम्हें सीरत कराऊंगा दिखा के तुमको बोली मैं जो भी खाऊंगा नहीं मेरे बच्चे तुम हमारे भी अपने आप को ठीक कस्टों में डालता है बदन कोमल तो है फूलों क्या उठाएगा हजारों मेरी तो बेटा सफर में सोच जाएगा नहीं जामखा जनो बर कबूक भे माता बदिलो बर कबूक भाई माता पिता पुका भाॼो

माता जी हम जगन्नाथपुरी में आ गए फिरना है मोहन नजरी कठिन गली है डबरी माता जी श्री बद्री नारायण आश्रम ईश्वर तेरा है सहारा ईश्वर तेरा है सहारा तू ही है रखवारा तू ही है रखवारा बेटा अब हम कहा है माता जी अब हम राज आ गए बेटा अब क्या समय है आधी रात का समय है माता जी सरवन बेटा हमें पानी पिलाओ पानी माता जी पानी तो मैं समझ नहीं आता अच्छा तुम यहाँ आराम करो मैं पानी जाता हूँ तो आधी रात का क्या है अभी जंगल में जाऊंगा जहाँ से भी मिला मुझको मैं पानी लेके आऊंगा जंगल जंगल चारों ओर जंगल अभिलाषा मन में पानी अंधेरे आशा तोड़े कुदरत की सुंदर तेजी में डाली जा सकती हाँ ठंडा पानी है आधी रात को पानी की आवाज ये जरूर से शिकार पानी पी रहा है अच्छा दस रथ के बांध से बचकर कहाँ जाएगा क्या मेरे बांध से कोई निर्दोष मारा गया मेरे बांध से शिकार बोल तेरे मन में लग अल्लाह का क्या मेरे माता पिता की डोरी और मैं उसके लिए पानी देने आया हूँ उनको पानी पिला सकते हैं आपको कितने दमी पर कभी आने न दिया आप मौत में हर कदम को उठाने न दिया देवी पानी पियो आप देवी तेरा सरवन शिकार के छोटे में मेरे सिर का निशाना हो गया क्या कहा मेरे सरवन को लग गया मैं तुम्हें सरवन के पास ले चलता मेरे राम दुलारे सरवन दिया नाम जो भगवान ने उस जंगल में सोया है जगाओ मेरे सरवन को नदी पे तो हम्म, हम्म, सब्र करो मेरे सरवन के घर पर याद रख है हमने सुबह भगवान जलाएगा मगर निर्दोष रहा ये सभी काले हो जाएगा तेरी वो जान जाएगी हमारी जान के बदले मरेगा दुनिया में तो संतान के बदले सर्वम सर्वम सर्वम